છોને છોને બુસ્તો ગ્રહ જીસો લાઈજો પ્રગટ કરજો મતી જે કરે મર્ત લોક મરે वापराय जो मत वापराई जो मती ये गुरु जी से शब्द कोई गुरु बोलता है शब्द देता है भगवान के नाम का वो दूसरे को नहीं कहना दूसरे को नहीं कहना चाहिए नहीं कहना हाँ वो आपने हृदय में रखना गुरु का शब्द होता है वो आप हृदय में रखना आपका आप गुरु ही स्मरण करना आपके गुरु का हाँ छौना छौना पुस्तकों गुरुजों से लाइब्रेरी छुपका के ले आया वो बुस्त मौलक चीज है छौना छौना पुस्तकों गुरुजों से लाई जो प्रकट कर जो मती दूसरे को नहीं दिया जे करे तो मर्द लोग मरे सत्र प्रकट कर जो मती जे करे तो यहां पर नहीं रहना चाहिए अच्छा गया क्या है हाँ हीरा पनारो बणज हलायो हीरो पनारो बणज हलाई जो मोखण लाई जो मती जी ल्यावे ताए तपाए गैर न्यावे एक रती मतलब ये करता है अपने को बिलोना होता है बिलोना ये करता है मक्खन आता है उसको हीरा पनारा बणज हलाया मोखण जाई जो मती माखन होता ऐसा नहीं लाना जो ताए तपा के जो प्योर चीज घी होता तो भगवान कैसा जो होता है कि घी जैसा होता तो माखन लाई जो मती ताए तपाए और नज नज लाना तू हम गैर ले आवे हे करती ये बूंद मेरी गैर को माखन में ताए तपाए ले आवे तू घी निकाले उसमें खाटो दूध हुए नहीं सिर्फ घी होता ऐसी चीज होनी चाहिए पचाए गयो के रोइड फूल दिसत रो फूट रो तोड़न जाई जो मती रोविडर फूल होता तो दिखित में सुंदर दिखता रोविडर फूल दिखित रो फूट रो तोड़न जाई जो मती जे तोड़े तो गुण बायरो काम नहीं आवे एक रती तो रोविडर फूल कोई काम का नहीं दिखित रहा तो गुण खस दिखे कोई खसबू नहीं है दूसरी कुछ नहीं है इसमें तो रोइडर फूल काम कुछ नहीं आता मतलब भगवान का स्मरण नहीं करा अपन को मनुष्य है तो अब क्या काम का हरियर फूल जैसा होता लेकिन आपने अपन को रूप दिया तो दिक्कत में आप बहुत सुंदर हो कि स्मरण भगवान का नहीं कि अपन को आप मेरे जैसे को लोग को मजदूर लगा देते तो हम आपका काम नहीं करते आप पैसा देते नहीं देते नहीं देते काम करता था आप पैसा दे देते तो भगवान मनुष्य अपन को बना के यहाँ पर भेजा अपन महाप्रभु को भूल जाते हैं तो अपन को दिखती जाए आगे क्या है <laughs> तो ऐसा रोहिणी फूल काम कुछ नहीं आता तो भगवान स्मरण करना मनुष्य के भगवान का स्मरण होना चाहिए तो आगल नदियों बे अपार है नावण जाई जो मती जे नावे तो डूब मरेला पार उकरे जती सती पीन गहरो पानी दरिया होता है तो उसमें नाई जो मती अगर जे नाये तो डूब मरला तो भगवान का स्मरण जे नहीं किया तो डूब जाता है स्मरण किया तो कहो के सतमा સતમાં सतमा સતમાં सतरे बातों सती સતી कभी सुन भाई साधु लक्ष्मण बाड़ो जती तो भगवान का नाम लेना तो राजी भी नाम लेना कोई भी मजदूरी करनी तो राजी भी करनी चाहिए तो उसको फल मिले और गुस्से में करे तो उसमें फल क्या कुछ भी बीबिया पूर्व देश रा बोली लखे नहीं कोई जे हमारी बोली लखे तो भाग पूर्वला हो हमारे मरमरो साधु कोई नहीं कैसा करो स्ने पसे कहो के पसे कहो के का तो तलड़ा कोरा भला का लीजे तेल कढ़ाए अध कचरी घाबर दोनों तो कौन जाए भगवान न ले तो ठीक है नहीं अध कचरी हुई कहीं काम नहीं के हमारे मरमरो साधु कोई नहीं कैसा करो सने पचे कहो गए कड़वा पौनारी बेलड़ी फल कड़वा होई सत सुबद चीणो तो बेली बिछोड़ा नहीं हो ઈર કડવા પોનારી બેલડી ફળ કડવા હોય હા સત સુબદ ચીણો सत्र शब्द हो चीन लेना सत शब्द हो चीन लेना भाई चीन मतलब फिर ग्रोड़ करो सत हो मन करो शब्द हो। सुबद है सुबद है सुबद और सत हो लेणो सुबद नाम है वो सत हो लेणो सत सुबद चीणो तो बेली बुछड़ा नहीं हो હા, તકલીફ. तो હા. तकलीफ नहीं रहो। પછી કહ્યો दो लागो उन बेल मो भयो बीज को नाश कि कैत कभी सुन भाई साधु नहीं नहीं फिर उगण की आश ये अपने काल क्रोध है क्रोध महीना है ये बेल बड़ी भी भगवान नाम स्मरण हो बेल बड़ी ही भी पचे वो बीज नहीं पचे की हुई कही पचे क्रोध हुआ कौन લોભ હે લાલચ હે કાળ હે ક્રોધ હે મૂદ એ હે બાળ્યા પછી ઉરું જડ હતી ઉરી ઉર જડ ને બાળી દીધું તો પછી એ ઉગઈ કે હાલ તો ઉર રોમ છો લેવલા જોતી છે જોતી મળી ભગવાન હા ભગવાન ભેળો ભાઈ હા તીન દોડા ચોથો સરનામો હા ચોથો સરનામો ચોથો નામો હા Thank you. I'm Double सतगुरु मिले भाग भला जरा सतगुरु मिलया पढ़ो संबंध में सीर पढ़ो संबंध में सीर हर्षा वे चुग लीजे नाम अमोलक हीर हरी रा गुण गाय दे दब लग सुखियो शरीर शरीर में हुक खेजती पीछे याद नहीं आवे तेरे पंजरे में बापे पीड़ पीछे याद नहीं आवे पीछे भाई पछे वृद्ध हाँ, होता याद को आवे हाँ। पीछे याद नहीं आवे हाँ। पंद्रह में बापे पीड़ हरी रा गुण गाय रा जबल सुखी शरीर पछे तो याद को आवे की बातें हैं वो सीख लीजिए तो हंसो है चुग लीजिए मोल अमोलक जी ये राम का नाम है अमोलक है अनमोल है इनका कोई मोल नहीं है अब पीछे याद नहीं फल फल आयु घटत है उसमें प्रति पहले हम दस साल के थे अभी हम चालीस साल के हो गए हमारी उम्र कम पड़ी ज़्यादा नहीं सन सन पल पल आई घटत है ज्यो अजनी कुंज ज्यो अंजनी कुंज अंजनी का आँख आँख का नीर कैसे कम पड़ता है बड़ा पहले अपने एक जमाने में दूसरे भी इसमें टाइम नहीं लगाना जल्दी जवानी में लो तो तुम्हें का गुण गुण तो का का गुण जब लोग में शरीर सुख में शरीर है तक का गुण और मोह बाद में भी सब देवन को देव रामे जी सब देवों को देव राम कहीं कई कहीं देव मानते हैं फलाने देव है फलाने देव है सबका देव कौन है राम सब देवों को देव रामी और सब पीरा का पीर पीर हाँ। कहत कबीरा भज लीजिए सुख सागर ऋषि सब देवों को देव रमियो सब पीरा का पीर ये भगवान सब पीरा दे कहत कबीर सुनो भाई हाँ सुख सागर की ठीक मतलब सुख सागर है मतलब सुख है हरे में तो सुख सागर की मतलब अपने जो ये सुंदर है ये ये आत्मा है पूरी शरीर में है Thank you. thank you Ah. thy own. हमारे देश में धारा नहीं गगना हाँ हाँ मेरे नरे कार चीज भाई वो ठेठ पुगेरी बात है ये हमें एक तो अपने मर्द लोग मन नहीं आनो जानो हमारा देश में धारा नहीं गगना नहीं है पवन पानी नहीं है पवन पानी नहीं पानी है नहीं पवन एवी एवी सेना सेना सतगुरु बताई मुख बरे कयो नहीं था गुरु जी को शुभ दियो भी ओ दुनिया हेंग बताए को होगा एड़ी चीज पड़ी है क्या अपरंपरा अपरंपरा चीज पड़ी अनमोल चीज पड़ी है भगवान बड़ा दे गुरु टाल कोई बतावा कौन गुरु जी बताओ पछे कहोगे हमारे देश में चंदा नहीं सूरज नहीं है नवलख तारा तो हाँ एवी एवी सतगुरु बताई मुख